No more. राम बिना फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया दीपक कह कर उदय भया निज भान दरिया नरतन पायकर किया चाहे काज राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज मुसलमान हिंदू कहा षट् दरसनारं कराव जन दरिया हरे नाम बिना सब पर जम कादा जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर दरिया सुमिर राम को सहज तिमिर का नास घट भीतर हाय चांद ना परम जो ती प्रकाश सत गुरु संगन सन चरा राम नाम और नाही ते घट मर घट सारी खा भूत बसे ता माही दरिया काया कारवी मौसर है दिन चार जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार दरियातम मल भरा कैसे निर्मल हो साबन लागे प्रेम का राम नाम जल धोए दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल धन धन है वे साध वा जीन लिया गुरु नमो नमो नमो सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवन्त नमो नमो हरे गुरु नमो नमो नमो सब संत डरिया सत गुरु शब्द सो मिट गई खेचाता घर में अंधेरा मिट गया पर सा पद निर्वाण सोता था बहु जन्म का सत गुरु दिया जगा जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए राम बिना फिकाल गए सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया दीपक कह कर उदय भया निज भान दरिया नरतन पायक किया चाहे काज राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज मुसलमान हिंदू कहा शट दरसना रंग कराव जन दरिया हरे नाम बिना सब पर जम का जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर दरिया कह उस दास की मैं चरण की धू डरिया सुमिर राम को सहज तिमिर का नास घट भीतर हाय चांद ना परम जो ती परकाश सत गुरु संगन चरा राम नाम हो नाही घटे घट मर घट सारी खा भूत बसे ता माही दरिया काया कारवी मौसर है दिन चार जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार दरियायात्मो मल भरा कैसे निर्मल हो साबन लागे प्रेम का राम नाम जल धोए दरिया सुमिरन राम का देखत भोली खेल धन धन हरे साध जीन लिया मन मेल फिरी दुहाही शहर में चोर गए सब भाज सत्र फिर मित्र जो भया हुआ राम का राम मनुष्य चेतना के तीन आयाम हैं एक आयाम है गणित का विज्ञान का गद्य का दूसरा आयाम है प्रेम का काव्य का संगीत का और तीसरा आयाम है अनिर्वचनीय न उसे गद्य में कहा जा सकता न पद्य में तर्क तो असमर्थ है ही उसे कहने में प्रेम के भी पंख टूट जाते हैं बुद्धि तो छू ही नहीं पाती उसे हृदय भी पहुंचते पहुंचते रह जाता है जिसे अनिर्वचनीय का बोध हो वह क्या करे कैसे कहे अकथ्य को कैसे कथन बनाए जो निकटतम संभावना है वह है कि गाय नाचे गुनगुनाए एक तारा बजाए कि ढोलक पे थाप दे कि पैरों में घुंघरू बांधे कि बांसुरी पर अनिर्वचनीय को उठाने की असफल चेष्टा करे इसलिए संतों ने गीतों में अभिव्यक्ति की है नहीं कि वे कवि थे बल्कि इसलिए कि कविता करीब मालूम पड़ती है शायद जो गद्य में न कहा जा सके पद में उसकी झलक आ जाए जो व्याकरण में न बंधता हो वह शायद संगीत में थोड़ा सा आभास दे जाए इसे स्मरण रखना संतों को कवि ही समझ लिया तो भूल हो जाएगी संतों ने काव्य में कुछ कहा है जो काव्य के भी अतीत है जिसे कहा ही नहीं जा सकता निश्चित ही गद्य की बजाय पद्य को संतों ने चुना क्योंकि गद्ध और भी दूर पड़ जाता है गणित और भी दूर पड़ जाता है काव्य चुना क्योंकि काव्य मध्य में है एक तरफ व्याख्य विज्ञान का लोक है दूसरी तरफ अव्याख्य धर्म का जगत है और काव्य दोनों के मध्य की कड़ी है शायद इस मध्य की कड़ी से किसी के हृदय की वीणा बज उठे इसलिए संतों ने गीत गाए गीत गाने को नहीं गाए तुम्हारे भीतर सोए गीत को जगाने को गाए उनकी भाषा पर मत जाना उनके भाव पर जाना भाषा तो उनकी अटपटी होगी जरूरी भी नहीं कि संत सभी पढ़े लिखे थे बहुत तो उनमें गैर पढ़े लिखे थे लेकिन पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध भी नहीं है गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है परमात्मा दोनों को समान रूप से उपलब्ध है सच तो यह है पढ़े लिखे को शायद थोड़ी बाधा हो उसका पढ़ा लिखा पन ही अवरोध बन जाए गैर पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा बोला थोड़ा ज्यादा निर्दोष उसके निर्दोष चित्त में उसके भोले हृदय में सरलता से प्रतिबिंब बन सकता है कम होगा विकृत प्रतिबिंब क्योंकि विकृत करने वाला तर्क मौजूद ना होगा झलक ज्यादा अनुकूल होगी सत्य के क्योंकि विचारों का जाल ना होगा जो झलक को अस्त व्यस्त करे सीधा सीधा सत्य झलकेगा क्योंकि दर्पण पर कोई शिक्षा की धूल नहीं होगी तो भाषा की चिंता मत करना व्याकरण का हिसाब मत बिठाना छंद भी उनके ठीक है या नहीं इस विवेचना में भी ना पड़ना क्योंकि ये तो चूकना हो जाएगा ये तो व्यर्थ में उलझना हो जाएगा ये तो गए फूल को देखने हैं और फूल के रंग और फूल के रसायन और फूल किस जाति का है और किस देश से आया है इस सारे इतिहास में उलझ गए और भूल ही गए कि फूल तो उसके सौंदर्य में है गुलाब कहां से आया क्या फर्क पड़ता है ऐतिहासिक चित्त इसी चिंता में पड़ जाता है कि गुलाब कहां से आया आया तो बाहर से उसका नाम ही कह रहा है नाम संस्कृत का नहीं हिंदी का नहीं गुल का अर्थ होता है फूल आप का अर्थ होता है शान फूल की शान आया तो ईरान से है बहुत लंबी यात्रा की लेकिन यह भी पता हो कि ईरान से आया है गुलाब तो गुलाब के सौंदर्य का थोड़ी इससे कुछ अनुभव होगा गुलाब शब्द की व्याख्या भी हो गई तो भी गुलाब से तो वंचित ही रह जाओगे गुलाब की पखुड़ियां तोड़ ली पखुड़ियां गिन ली वजन नाप लिया तोड़ फोड़ करके सारे रसायन खोज लिए किन किन से मिलके बना कितनी मिट्टी कितना पानी कितना सूरज तो भी तो गुलाब के सौंदर्य से वंचित रह जाओगे ये गुलाब को जानने के ढंग नहीं गुलाब की पहचान तो उन आंखों में होती जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती गुलाब की भाषा में नहीं उलझती गुलाब के विज्ञान में नहीं उलझती जो सीधे सीधे नाचते हुए गुलाब के साथ नाच सकता है जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है जो भूल ही सकता है अपने को गुलाब में डुबा सकता है अपने को गुलाब में और गुलाब को अपने में डूब जाने दे सकता है वही जानेगा संतों के वचन गुलाब के फूल है विज्ञान गणित तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना नहीं तो अन्याय होगा वे तो वंदनाएं हैं अर्चनाएं हैं प्रार्थनाएं हैं वे तो आकाश की तरफ उठी हुई आंखें हैं विश्व पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं शानदारों को छू लेने के लिए उस अभीपसा को पहचानना वह अभीपसा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खोलेगा उस संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद तुम्हारे गुरुद्वारे तुम्हारे गिरजे परमात्मा के द्वार नहीं लेकिन संतों के हृदय में निश्चित द्वार है जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा चर्च में नहीं मोहम्मद के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा मस्जिद में नहीं ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के वचनों में हम आज उतरते फूलों की तरह लेना संभाल के नाजुक बात है ख्याल रखना फूलों को सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पर नहीं कसा जाता है फूलों को सोने की कसने की कसौटी पर कस कस के मत देखना नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे एक बाउल फकीर से एक बड़े शास्त्रज्ञ पंडित ने पूछा कि प्रेम प्रेम प्रेम निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो ये प्रेम है क्या मैं भी तो समझू इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है किन वेदों का समर्थन है वह बाल फकीर हंसने लगा उसका एक तारा बजने लगा खड़े होकर वो नाचने लगा पंडित ने कहा नाचने से क्या होगा और एक तारा बजाने से क्या होगा व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की और शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए कहते हो प्रेम परमात्मा का द्वार है मगर कहा लिखा है और नाचो मत बोलो एक तारा बंद करो बैठो तुम मुझे धोखे में न डाल सकोगे औरों को धोखे में डाल देते हो एक तारा बजा के नाच के औरों को लुभा लेते हो मुझको ना लुभा सकोगे उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया उस बाउल फकीर ने कहा गीतों के सिवाय हमारे पास कुछ और है नहीं यही गीत हमारे वेद यही गीत हमारे उपनिषद यही गीत हमारे कुरान क्षमा करें नाचूंगा एक तारा बजाऊंगा गीत गाऊंगा यही हमारी व्याख्या है अगर समझ में आ जाए तो आ जाए न समझ में आए दुर्भाग्य तुम्हारा पर हमसे और कोई व्याख्या न पूछो और कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं और जो गीत उसने गाया वो बड़ा प्यारा था गीत का अर्थ था एक बार एक सुनार एक माली के पास आया और कहा कि तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी तो मैं आज कसने आया हूं कि फूल सच्चे हैं असली हैं या नकली हैं मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को ले आया हूं और वह सुनार उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कसकस के फेंकने लगा कि सब झूठे कोई सच्चे नहीं उस बाउल फकीर ने कहा जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी वही तुम्हें देख के मेरे प्राणों पर गुजर रही तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो और मैं प्रेम नाच रहा हूं अंधे हो तुम तुम प्रेम के लिए शास्त्रीय समर्थन पूछते हो और मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूं बहरे हो तुम मगर अधिक लोग अंधे अधिक लोग बहरे दरिया के साथ अन्याय मत करना यह मेरी पहली प्रार्थना ये सीधे साधे शब्द हैं पर बड़े गहरे जितने सीधे साधे उतने गहरे हैं नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की बंधी ओंकार की अविराम सलाकार बाहों में नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र निराजन जपी अपरान रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का बंधन जीवन भर भी तुम्हारी गायत्री हो जाए तो भी उस अनिर्वचनीय की व्याख्या नहीं होती और सूरज भी तुम्हारी आरती का दिया बन जाए तो भी पूजा पूरी नहीं होती नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की बंधी ओंकार की अविराम सलाकार बाहों में नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन जपी अपराह रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन विकलता व्यर्थता इस परिक्रमिक चक्रांत जीवन की तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा किया मैंने नहीं आह्वान करुणा का तुम्हारी जब क्षमा की पात्रता मुझ में न कोई और मानेगा रहा विश्वास भावातीत मन की गतमयी लैसा नियति मेरी रही केवल उसी संपूर्ति में पकती भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को रही अपनी छुबित आराधना की दीनता तकती सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे शब्द तक मेरे तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई अव्यंजित अव्यंजित ही सदा जो रह गई अभिशप्त प्राणों में वही असहाय मेरी भावना निष्पंद पथराई तुम्हारी सर्वचेतन सर्व आभासित असीमा का न कोई पारदर्शी बोध मेरी प्रार्थना पाती अथाई चिर विदारक शून्यता में मूक जड़ जैसी निपट असमर्थ मेरी मुग्धता अफलित रही आती न उसे कभी कहा गया न कभी उसे कभी कहा जा सकेगा फिर भी बड़ी करुणा है संतों की कि अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा की है जानते हुए भली भांति जानते हुए कि नहीं ये हुआ है नहीं ये हो सकेगा लेकिन फिर भी शायद कोई आतुर प्राण प्यास से भर उठे शायद कोई सोई आत्मा पुकार से जग जाए जानते हैं हम भली भांति सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे शब्द तक मेरे तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई कौन बना पाया है परमात्मा के उस रूप को कौन बांध पाया है रंगों में शब्दों में कोई रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को रही अपनी छुबित आराधना की दीनता तकती भक्त जानता है अपनी असमर्थता को संत पहचानता है अपनी दीनता को विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की असमर्थता और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की अथक चेष्टा नहीं जो कहा जा सकता उसे कहने की नहीं जो जताया जा सकता उसे जताने की नहीं जो बताया जा सकता उसे बताने की इसलिए बड़ी सूक्ष्म प्रीति भरी आंखें चाहिए बड़ी सरल निर्दोष श्रद्धा भरी बाहें चाहिए तो ही आलिंगन हो सकेगा नमो नमो हरि गुरु नमो नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया कहते हैं पहला नमन गुरु को और गुरु को हरि कहते नमो नमो हरि गुरु नमो यह दोनों अर्थों में सही है पहला अर्थ कि गुरु भगवान है और दूसरा अर्थ कि भगवान ही गुरु है गुरु से जो बोल जाता है वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है उतना ही जितना गुरु के भीतर लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा हरि भी तुमसे कहना चाहता है मगर तुम सुनते नहीं भीतर की नहीं सुनते तो शायद बाहर की सुन लो बाहर की तुम्हारी आदत है तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में निष्णात है भीतर तो क्या देखोगे भीतर तो आंख कैसे मोड़े ये कला ही नहीं आती और भीतर तो कैसे सुनोगे इतना शोरगुल है सिर का मस्तिष्क का कि वह धीमी धीमी आवाज कहीं न मालूम कहां खो जाएगी बोलता तो तुम्हारे भीतर भी हरी है लेकिन पहले तुम्हें बाहर के हरी को सुनना पड़े थोड़ी पहचान होने लगे थोड़ा संगसांस होने लगे थोड़ा रस उभरने लगे तो जो बाहर तुमने सुना है एक दिन वही भीतर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा क्योंकि गुरु केवल वही कहता है जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा कहना चाहती इसलिए गुरु को हरि कहा और इसलिए हरि को गुरु कहा है नमो नमो हरि गुरु नमो दरिया कहते नमन करता हूं बार बार नमन करता हूं नमन का अर्थ इतना ही नहीं होता कि किसी के चरणों में सिर झुका देना नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने को चढ़ा देना ये सिर झुकाने की बात नहीं ये अहंकार विसर्जित कर देने की बात है नमो नमो सब संत और जिस दिन समझ में आ जाती है बात उस दिन बड़ी हैरानी होती कि सभी संत यही कहते थे कितने भेदभाव माने थे कितने विवाद थे कितने वितंडा कितने शास्त्रार्थ पंडित जूझ रहे मल्ल युद्ध में लगे हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है ईसाई जैन से जूझ रहा है जैन बौद्ध से जूझ रहा है सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं भेद हो नहीं सकता सत्य एक है उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते हैं जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते हैं तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे और सारे संतों में बेसर्त फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पराया सारे संतों में भी उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे कितनी ही हो वीणाएं संगीत एक है और कितने ही हो दीप प्रकाश एक है और कितने ही फूल सौंदर्य एक है गुलाब में भी वही और जूही में भी वही चंपा में भी वही और चमेली में भी वही सौंदर्य एक अभिव्यक्तियां भिन्न निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती अपनी शैली है उनकी अपना सौंदर्य है उनका समझो कि जूहे के फूल और उपनिषद के वचन उनका सौंदर्य अपना है अनूठा है समझो कि चंपा के फूल और बाइबल के उद्धरण समझो कि गुलाब के फूल पर सब फूल हैं और सब में जो फूला है वह एक वही सौंदर्य कहीं सफेद है और कहीं लाल है और कहीं सोना हो गया है नमो नमो हरि गुरु नमो नमो नमो सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवान और दरिया कहते हैं जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही भीतर भी वही और सारे संतों में भी वही फिर अंततः ये भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही पहचान बढ़ती गई गहरी होती चली गई जन दरिया बंधन करे अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना सिर्फ बंधन करता हूं नमो नमो भगवंत अब ये भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई अच्छा है कि बुरा है कोई पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही है अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है हीरो में दिखाई पड़ा था अब कंकड़ पत्थरों में वही दिखाई पड़ता है अब कौन चिंता करे अब कौन फिक्र ले अब तो सिर्फ बंधन करता हूं सभी दिशाओं में बंधन करता हूं सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे अच्छों की तो बात ही छोड़ दो बुरों में भी वही है उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं इसलिए अब तो वंदन ही बचा अब तो झुक झुक पड़ता हूं अब तो वृक्ष हो तो पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान बड़ी खेचातानी में रहा कि कौन सही कौन गलत कौन शुभ कौन अशुभ किस मंदिर जाऊं किस मूर्ति की पूजा करूं किस शास्त्र को पकड़ू कौन सी नाव पर सवार हूं कैसे भौसाकर पार होगा बड़ी खेचातान थी दरिया सतगुरु शब्द सुन लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया तो मिट गई खेचातान की सारी खेचातान ही मिट गई क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं जो हुए जो हैं जो होंगे एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकारपूर्ण ग्रह में तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ बस काफी भरम अंधेरा मिट गया उसी क्षण मिट जाता है सारा अंधकार भ्रम का माया का मोह का परसा पद निर्वाण उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता हाथ में आ जाता है स्पर्श हो जाता निर्वाण का कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिन तर कविता साधन ही नहीं साधना साध्य सभी कुछ मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने यह दूर हटा दो शब्दकोश है व्यर्थ खोजना इस मुद्रित पुस्तक में यह जागृत शब्द योजना मेरी कविता का आस है तुम इस क्षण से पूछो सुन सको प्रतिध्वनि मन में यदि तो मन से पूछो मिल सकता तुमसे यदि मैं इतनी दूर न होता शब्दों का आश्रय लेने पे मजबूर न होता सांसों में साकार स्वयं बन जाती कविता तुम सुनते मेरी बात स्वयं बन जाती कविता सदगुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है जरा जीर्ण धूल धूसरित लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण पुराने शब्द बांसे सड़े गले सदियों सदियों चले थके मांदे उनमें उसे डालना है प्राण उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर लेकिन कहना तो होगा ही है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिन तर कहना कठिन लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन जिसने जाना है उसे कहना ही होगा सुने कोई सुने न सुने कोई न सुने उसे कहना ही होगा उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी मगर सौ में कोई एक आध आंख खोल लेता और सौ में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को पर उतना काफी उतना बहुत है और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के हैं संत तो केवल माध्यम है कविता साधन ही नहीं साधना साध्य सभी कुछ मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है कमल तो थे ही सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है कविता बहती है नदियों में कविता हरी है वृक्षों में कविता झकोरे ले रही सागरों में कविता ही कविता है सारा अस्तित्व उपनिषद है कुरान है मगर सोया पड़ा है किसी सदगुरु की चोट से कमल खिल जाता है और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते जो शब्दों के बीच झांकना जानते तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचा तान भरम अंधेरा मिट गया स्पर्शा पद निर्माण छू लिया परमात्मा को स्पर्श हो गया दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में अभी छू सकते हो यही छू सकते हो पर कान खोलो आंख खोलो चेतना का कमल खिलने दो सोता था बहुजन्म का सतगुरु दिया जगाए जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए दिलाए कुछ और नहीं किया गुरु ने सोए को जगा दिया सोए को झकझोर दिया छिपा तो सबके भीतर वही है चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो सत्य की तलाश करने नहीं तुम तो जाते भी हो संतों के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाए और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीति कर भी लगते होंगे और जो तुम्हारी पीठ थोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्य आत्मा हो और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली अब और क्या करने को शेष परमात्मा तुमसे प्रसन्न है तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है जो तुमसे ऐसी झूठी बातें व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीति कर भी लगते होंगे झूठ अक्सर मीठे होते एक तो झूठ है तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती सांत्वना की मिठास सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े सदगुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा सदगुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा सदगुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा उसे करना ही होगा उसकी अनुकंपा है कि करता है क्योंकि तभी तुम जागोगे भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे नींद प्यारी लगती है विश्राम मालूम होता है जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा पर बिना जगाए तुम्हें पता भी ना चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है यह रुपहली छांव वाली बेल कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश तिमिर तरु की स्याह साखों पर पसर कर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल यह रुपहली छाए वाली बेल लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार रश्मियों के वे सुकोमल तार उलझे रात के हर पात से सुकुमार इस धवल आकाश लतिका में झूलता सोलह पखरियों का अमृत में फूल गंध से जिसकी दिशाएं अंध खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध बल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल विधि ने की नहीं है भूल है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल हर जगह छाई हुई है यह रुपहली छाए वाली बेल हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है जरा संबंध जोड़ने की बात है तुम कस्तूरी मृग हो कस्तूरा हो भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से उठ रही उस कस्तूरी के तुम मालिक हो कस्तूरी कुंडल बसे तुम्हारे भीतर बसी कोई जगाए कोई हिलाए कोई तुम्हें सचेत करे और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे गांवों को मलम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो उनसे सावधान रहना सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सदगुरु नहीं है सदगुरु तो झकझोरेगा उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है सोता था बहु जन्म का सतगुरु दिया जगाए जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा क्रोध है तो इलाज करना होगा लोभ है तो इलाज करना होगा मोह है तो इलाज करना होगा अहंकार है यह है वह है हजार रोग है व्याधियां ही व्याधियां हैं इतनी व्याधियों के लिए इतनी औषधियां खोजनी होंगी लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं उनकी कोई सच्चाई नहीं पापी पाप का स्वप्न देख रहा है पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है उसका कोई स्वप्न नहीं होता चोर चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु साधु होने का सपना देख रहे हैं जागा हुआ न तो असाधु होता न साधु होता बस जागा हुआ होता है और जागते ही सारे रोग मिट जाते एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती है पंख मेरे तू कृति हर बार नभ केवल प्रतीक्षा तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण दे निरर्थक कल्पनोपरि को धरा के मान तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार तू रचा आकार नव केवल प्रतीक्षा उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़ बधिर नव के मोम को किलकारियों से फोड़ ज्योति के निस्तब्द तारों में गुंजा दे गान जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान तू कृति है गीत का कर मोम भी स्वीकार गा बहा रस धार नभ केवल प्रतीक्षा ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं, उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण शहर अंबर चीर कर ओ धरा के अभिमान तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा कोई जगाए झकझोरे कोई कहे उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़ बधिर नव के मौन को किलकारियों से फोड़ ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह बीरान तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा हम वही हो सकते हैं जो हम हैं हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है पर हमें पता ही नहीं अपना स्वभाव ही भूल गया अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है कि हमारे भीतर सृष्टा का आवाज कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार गा बहारस धार नभ केवल प्रतीक्षा कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो आकाश कुछ भी ना करेगा हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो इससे कुछ भी ना होगा नभ केवल प्रतीक्षा आकाश तो शून्य है इसमें तुम्हें जागना होगा निर्माण करना होगा स्वयं को निखारना होगा स्वयं की धूल झाड़नी होगी ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाएं, उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान तू कृति है राह का कर भी स्वीकार फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे वही जिसने फैलाए हो अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी हो वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो वही जिसके भीतर फूल खिले हो जिसके भीतर मौन जगा हो जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो वही तुम्हें भी जगा सकता है लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे हो न वे जगे हैं न वे जगा सकते राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो राम जिन्हें मिला नहीं राम जो अभी हो नहीं गए राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं राम बिन फीका लगे पंडित पुरोहित उनकी जरा आंखों में झांको उनकी जरा हृदय में टटोलो अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान जरूर क्रियाकांड वे जानते और शास्त्र भी बहुत उनके पास है और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है मगर उसका कोई मूल्य नहीं उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा नसरुद्दीन क्या यही विश्वविद्यालय है सुंदर है भव्य है हो मुल्ला ने उत्तर दिया फिर गांधी मैदान आया विशाल मैदान तो मैंने कहा यही है गांधी मैदान मुल्ला ने कहा हो हर बात के उत्तर में हव शब्द सुनकर मैंने पूछा यह हव क्या होता है हव मुल्ला ने कहा यहाँ का आंचलिक शब्द है बिना पढ़े लिखे लोग हाँ को हव बोलते तो मैंने कहा लेकिन नसुद्दीन तुम तो पढ़े लिखे हो उसने कहा हव पढ़े लिखे होने से क्या होगा शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते क्रियाकांड जड़ होते तुम रोज दोहरा लो गायत्री मगर तो तुम जैसी होती एक नौ रईस ने नए नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज लाए जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए हुजूर कौन सा पान मगही या बनारसी महोबा या कपूरी ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर क्योंकि साधारण रईस नहीं सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया तो हुक्म के मुताबिक मुल्ला नसुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई कौन सा शरबत लाऊ हुजूर खस का या अनार का केवड़े का या बादाम का शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्य वस्त बोले आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए क्या हम उनके दर्शन कर सकते नौ रईस ने मुल्ला से कहा जा मुल्ला पिताजी को बुला ला आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला कौन से पिताजी इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले क्रिया कांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता सब थोथा थोथा समझ नहीं होती क्या कर रहा है जैसा बताया है वैसा कर रहा है कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जम लेता है कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं और न कहीं कोई बोध है राम बिना फीका लगे दरिया ठीक कहते हैं जब तक भीतर का राम न जगे या किसी जागे हुए राम के साथ संग साथ ना हो जाए तब तक सब फीका है सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया दीपक कह करे उदा भया निजभान और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है तो फिर बाहर के दियो की कोई जरूरत नहीं रह जाती न शास्त्र की जरूरत रह जाती न क्रियाकांडों की जरूरत रह जाती जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरे दरिया दीपक कह करे उदय भया निजान दरिया कहता अब तो कोई जरूरत नहीं अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहे ठीक ही कहते कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे ठीक ही कहती है अपना ही कुरान जग गया अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे सदगुरु सिद्धांत नहीं देता सदगुरु जागरण देता है सदगुरु शास्त्र नहीं देता स्वबोध देता है सदगुरु क्रियाकांड नहीं देता स्वानुभूति देता है समाधि देता है दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो असली काम कर लो किया चाहे काज ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना कोई धन इकट्ठा कर रहा कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा सब व्यर्थ हो जाएगा मौत आती ही होगी मौत आएगी सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर जिस दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है असली काम कर लो असली काम क्या है राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज प्रभु का स्मरण कर लो प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ इसके पहले की मौत तुम्हें ले जाए प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ मुसलमान हिंदू कहा सट दर्शन रंग राव जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाव और ख्याल रखना मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान हिंदू कहा सद दर्शन रंग कराओ इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें छह दर्शन कंठस्थ कि तुम चारों वेद के पाठी हो कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी जन दरिया हरिनाम बिन सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना राम की सूरत ही पैदा हो जाना अन्यथा सब पर जम का दांव सब पर मौत का कब्जा है सिर्फ राम अमृत है बाकी सब मरण धर्म है और कितना ही धन मिल जाए कहा होती पूरी वासना लगता है और और और कितना ही बड़ा पद हो सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते और कहीं भी पहुंच जाओ दौड़ जारी रहती आपाधापी मिटती ही नहीं कहो जागरण से जरा सांस ले ले अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा इससे आदमी जागने तक से डरता है क्योंकि न मालूम कितने स्वप्न भी अधूरे अधूरे कहो जागरण से जरा सांस ले ले अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी अभी ध्यान है साधना है अधूरी हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही रहा साथ मेरे अभी तक मले ही मुझे देवता मत पुरस्कार देना अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा अभी चांद का रथ हुआ है रवाना कली को न आया अभी मुस्कुराना अभी तारकों पर उदासी न छाई दिए न न मांगी अभी तक विदाई प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा अभी आग है आरती कब बनी है अभी भावना भारती कब बनी है मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ खरा स्वर्ण मेरा अधूरा अधूरा पवन डाल की पायलों को बजाए किरण फूल के कुंतलों को खिलाए भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए तभी द्वार आकर तभी लौट जाना हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा आदमी क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है सारा श्रम निरर्थक है करना हो कुछ तो असली काज असली काम कर लो जो बैठे नाम जहाज उसने कर लिया असली काज मुसलमान हिंदू कहा सत जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाव जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे बस जानना वही पहुंचा है जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर जो संसारी में भी राम को ही देखता है ग्रही में भी राम को ही देखता है अग्रही में भी सन्यासी और संसारी में जिसे भेद ही नहीं जिसे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ा है दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं इतना ही काफी है बस इतनी आकांक्षा काफी है जिसने राम को जाना हो उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो राम तुम्हारे हाथ आ गए जिसने राम को जाना हो उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नाश घट भीतर हो चांदना परम ज्योति प्रकाश स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए इस बात को खूब ध्यान में रख लेना तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो और लोभ है तो अलोभ साधो और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था तुम्हारी मूर्छित अवस्था उस जड़ को काट दो जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती नीति है अंधेरे से लड़ना इधर से धकाओ उधर से धकाओ लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है दिए को जलाओ धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ अंधेरे की बात ही छोड़ो मुझसे लोग आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे लोग सभी को एक ही उत्तर देता हूं ध्यान करो एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध क्रिया किरियाशास्त्र ज्ञान दरिया दीपक कह कर उदय भया निज भान दरिया नरतन पाय किया चाहे काज राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज मुसलमान हिंदू कहा शट दरसना रंग कराव जन दरिया हरे नाम बिना सब पर जम का जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर दरिया कह उस दास की मैं चरण की धूर दरिया सुमिर राम को सहज तिमिर का नास घट भीतर हाय चांद ना परम जो ती परकाश सत गुरु संगन सन चरा राम नाम हो नाही ते घट मर घट सारी खा भूत बसे ता माही दरिया काया कारवी मौसर है दिन चार जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार दरिया आत्मा मल भरा कैसे निर्मल हो साबन लागे प्रेम का राम नाम जलधोय दरिया सुमिरन राम का देखत भोली खेल धन धन है वे साध जीन लिया मन मेल फिरी दुहाही शहर में चोर गए सब भाज सत्र फिर मित्र जो भया हुआ राम का राम मनुष्य चेतना के तीन आयाम हैं एक आयाम है गणित का विज्ञान का गद्य का दूसरा आयाम है प्रेम का काव्य का संगीत का और तीसरा आयाम है अनिर्वचनीय न उसे गद्य में कहा जा सकता न पद्य में तर्क तो असमर्थ है ही उसे कहने में प्रेम के भी पंख टूट जाते हैं बुद्धि तो छू ही नहीं पाती उसे हृदय भी पहुंचते पहुंचते रह जाता है जिसे अनिर्वचनीय का बोध हो वह क्या करे कैसे कहे अकथ्य को कैसे कथन बनाए जो निकटतम संभावना है वह है कि गाय नाचे गुनगुनाए एक तारा बजाए कि ढोलक पे थाप दे कि पैरों में घुंघरू बांधे कि बांसुरी पर अनिर्वचनीय को उठाने की असफल चेष्टा करे इसलिए संतों ने गीतों में अभिव्यक्ति की है नहीं कि वे कवि थे बल्कि इसलिए कि कविता करीब मालूम पड़ती है शायद जो गद्ध में न कहा जा सके पद में उसकी झलक आ जाए जो व्याकरण में न बंधता हो वह शायद संगीत में थोड़ा सा आभास दे जाए इसे स्मरण रखना संतों को कवि ही समझ लिया तो भूल हो जाएगी संतों ने काव्य में कुछ कहा है जो काव्य के भी अतीत है जिसे कहा ही नहीं जा सकता निश्चित ही गद्य की बजाय पद्य को संतों ने चुना क्योंकि गद्ध और भी दूर पड़ जाता है गणित और भी दूर पड़ जाता है काव्य चुना क्योंकि काव्य मध्य में है एक तरफ व्याख्य विज्ञान का लोक है दूसरी तरफ अव्याख्य धर्म का जगत है और काव्य दोनों के मध्य की कड़ी है शायद इस मध्य की कड़ी से किसी के हृदय की वीणा बज उठे इसलिए संतों ने गीत गाए गीत गाने को नहीं गाए तुम्हारे भीतर सोए गीत को जगाने को गाए उनकी भाषा पर मत जाना उनके भाव पर जाना भाषा तो उनकी अटपटी होगी जरूरी भी नहीं कि संत सभी पढ़े लिखे थे बहुत तो उनमें गैर पढ़े लिखे थे लेकिन पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध भी नहीं है गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है परमात्मा दोनों को समान रूप से उपलब्ध है सच तो यह है पढ़े लिखे को शायद थोड़ी बाधा हो उसका पढ़ा लिखा पन ही अवरोध बन जाए गैर पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा बोला थोड़ा ज्यादा निर्दोष उसके निर्दोष चित्त में उसके भोले हृदय में सरलता से प्रतिबिंब बन सकता है कम होगा विकृत प्रतिबिंब